फिर अगर पता चले कि वो दोनों गवाह झूठ बोलकर गुनाह के मुर्तकब हुए हैं तो उनकी जगह दो और अफराद खड़े हो जाएं, उनमें से जिनका झूठी गवाही के जरिए हक मारा गया है जो मैयत के करीब तर हों फिर वो अल्लाह की कस्में खाएं कि यकीनन हमारी गवाही उन दोनों की गवाही से ज्यादा बरहक है और हमने इस गवाही में कोई ज्यादती नहीं की अगर हम ऐसा करें तो उस वक्त یقیناً ہم ظالموں میں سے ہوں گے